परम पिता परमात्मा का स्मरण सर्वव्यापक परमात्मा मेरे अंदर विद्यमान परमात्मा प्रणव ध्वनि Oh. सनातन प्रेमी सज्जनों वेद स्वाध्याय में आर्य का द्वितीय प्रकाश और उसका चौदहवा मंत्र ये मंत्र यजुर्वेद के आठवें अध्याय का छत्तीसवां है वेद मंत्र में परमात्मा का स्वरूप बताया गया परमात्मा की स्तुति की गई है वो परमात्मा कैसा है कहाँ रहता है किस स्वभाव वाला है वो इस मंत्र में बताया गया है मंत्र है यस्मान न जात परो अन्यो अस्ति या आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संदराण त्रीणी ज्योतिषी सचते स षोडशी परमात्मा को सर्वोपरि बताते हुए वेद मंत्र कहता है यस्मात न पर अन्य जाता जिससे परे जिससे श्रेष्ठ जिससे बड़ा और कोई उत्पन्न नहीं हुआ परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है इस संसार में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं उनमें से कोई भी परमात्मा से श्रेष्ठ और बड़ा न था न है और न होगा और अन्य भी जितने नित्य पदार्थ हैं वे भी जो भी प्रकट हैं विद्यमान हैं उनमें से कोई भी परमात्मा से बढ़ के नहीं है और इसकी व्याख्या में महर्षि दयानंद ने तो परमात्मा की व्याख्या ही इस ढंग से कर दी कि परमात्मा कहते ही उसको है जो सबसे बड़ा हो जिससे बड़ा तुल्य व श्रेष्ठ न हुआ न है न कोई कभी होगा उसको परमात्मा कहना परमात्मा मानना ही उसको चाहिए जो सबसे बड़ा है हमारे समाज में परमात्मा को स्वीकार किए जाते हुए भी विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लोग परमात्मा से बढ़ के भी अन्यों को मानने लगते हैं परमात्मा से बढ़ के अन्यों के प्रति श्रद्धा रखते हैं इस संसार में बहुत से लोग हमारे श्रद्धा के भाजन होते हैं श्रद्धा के योग्य होते हैं उसमें माता पिता भी आते हैं गुरुजन भी आते हैं उपदेशक आते हैं हमारा हित करने वाले आते हैं अच्छे मनुष्य हमारे श्रद्धा के योग्य हैं किंतु परमात्मा सबसे अधिक श्रद्धा के योग्य है क्योंकि वो सबसे बड़ा है वही सबसे अधिक हित हमारा करता है व्यवहार में बहुत बार ये उपदेश दिया जाता है कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी बात है माता पिता की सेवा अवश्य होनी चाहिए करनी चाहिए और उसे करवाने के लिए उसे प्रेरित करने के लिए इस तरह के उपदेश भी दिए जाते हैं कि हमारा भगवान तो हमारे माता पिता हैं माता पिता से बढ़कर के और कोई परमात्मा भगवान नहीं होता यहां कहने वाले का तात्पर्य हमें ये समझना चाहिए ये लेना चाहिए कि परमात्मा की तरह हमारे माता पिता भी हैं जैसे परमात्मा हमारी रक्षा करता है ऐसे ही माता पिता भी रक्षा करते हैं माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए इतना ही भाव उनका लेना चाहिए लेकिन यदि इस वाक्य का इस उपदेश का ये अर्थ ले लें कि माता पिता को ही भगवान समझना चाहिए माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं तो ऐसा कहते हुए हम उस परम पिता परमात्मा के बराबर किसी और को मान रहे हैं अपने लौकिक माता पिता को परमात्मा के समान मान रहे हैं अथवा परमात्मा से भी बड़ा मान रहे हैं हम अपने माता पिता के प्रति जो आदर भाव रखते हैं उनकी सेवा करते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वो किस लिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है उन्होंने कष्ट सह करके भी हमारे लिए कुछ किया होता है बचपन से लेके हमें अब तक बड़ा किया होता है हमारा सहयोग किया होता है इस दृष्टि से हम उनको पूज्य आदरणीय मानते हैं लेकिन परमपिता परमात्मा तो हमें सदैव प्रेरित कर रहा है सदैव हमारी रक्षा कर रहा है इस जन्म में भी कर रहा है और पिछले जन्मों में भी कर रहा था आगे भी करता रहेगा हमारे इस जन्म के जो माता पिता हैं वो पिछले जन्म में नहीं थे पिछले जन्म में कोई और माता पिता थे अगले जन्मों में फिर और कोई माता पिता होंगे तो वर्तमान के माता पिता तो इसी जन्म के हैं और हमारे वर्तमान माता पिता जो हमें सहयोग करते हैं वो सहयोग भी वो परमात्मा की सहायता से कर पाते हैं यदि उनको भी जीने के लिए परमात्मा का सहयोग ना मिले तो वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते और भी बहुत अंतर हम देख सकते हैं कि हमारे जो वर्तमान के माता पिता हैं वो अपनी भूल से अज्ञानता से असावधानी से कभी हमारा अहित भी कर देते हैं वो हमारा अहित करना नहीं चाहते लेकिन अहित कर देते हैं अहित हो जाता है उनसे लेकिन परमात्मा से कभी भी हमारा अहित नहीं होता क्योंकि वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है हमारे माता पिता अनेक बार विभिन्न कारणों से मोह से युक्त भी होते हैं अज्ञान से युक्त होते हैं किसी और के प्रति उनका अन्यायपूर्वक राग भी हो जाता है हमारे प्रति भी अन्यायपूर्वक द्वेष हो जाता है हो सकता है ये दोष हमारे माता पिता में संभव हैं सब माता पिता में न होते हो लेकिन बहुत से माता पिता में ये देखे जाते हैं लेकिन परमपिता परमात्मा में ये दोष बिल्कुल नहीं है वो सदा हमारा हित ही चाहता है और हित ही करता है इसलिए जब कभी ऐसा उपदेश हो कि माता पिता को भगवान समझे भगवान से भी बड़ा समझे तो वहां तात्पर्य केवल माता पिता की सेवा और श्रद्धा के लिए प्रेरणा मात्र समझना चाहिए माता पिता की भी हम सेवा करें उनका माने लेकिन परम पिता परमात्मा के बराबर कभी किसी को नहीं मानना चाहिए और जब कभी दो में हमें निर्णय करना हो कि हमें किसकी बात माने हम इसकी बात माने या उसकी माने माता पिता की बात माने या परमात्मा की माने माता पिता कुछ कह रहे हैं और परमात्मा का आदेश कुछ और है तो हमें वहां परमात्मा की बात ही माननी चाहिए परमात्मा का संविधान परमात्मा का आदेश सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है तो वेद मंत्र स्वयं इस बात को कह रहा है यस्मात न जाता परो अन्यो अस्ति जिससे बढ़कर के कोई न हुआ न है न होगा वह परमात्मा और कैसा परमात्मा यह आविवेश भुवनानि विश्वा जो इस समस्त भुवनों में प्रविष्ट हुआ है आविष्ट है विद्यमान है इनके अंदर भी है ऐसा वो परमात्मा महर्षि दयानंद इसको खोलते हुए लिखते हैं सब पदार्थों के निवास स्थान जितने भी पदार्थ हैं उनका निवास स्थान जो है कौन असंख्यात लोगों को आविवेश प्रविष्ट होके पूर्ण हो रहा है ये लोक लोकांतर कितने हैं असंख्यात हैं विभिन्न पदार्थों को बसाने वाले लोक लोकांतर असंख्य हैं वैज्ञानिक भी इतने यंत्रों का उपयोग करके इसकी था को नहीं पा पाए हैं एक अंदाजा करते हैं संभावना करते हैं कि ये इतने होंगे ये कहां तक हैं वास्तव में कितने हैं कोई नहीं बता पा रहा है इतने असंख्यात जो लोग हैं उन सब में वो विद्यमान है इतनी दूर दूर तक विद्यमान है इतनी दूर के ग्रह उपग्रह जिसमें जाने की हम कल्पना तक नहीं कर सकते जाना जहां असंभव है वहां भी वो विद्यमान है सर्वत्र वो विद्यमान है एक छत्र राज्य उसी का है सब जगह वो विद्यमान है ऐसा वो परमात्मा यह आविशेष आविवेश भुवनानि विश्व रागे कहा प्रजापति ही वो प्रजापति है हम सब प्रजाओं का पालक है और पालक किस प्रकार का है प्रजया संराण इस प्रजा के साथ में हम जो विभिन्न प्राणी उसकी प्रजा हैं उसके साथ संराण सम्यक प्रकार से रमण करता हुआ उनके साथ विद्यमान उनके साथ प्रेम पूर्वक रहता हुआ उनको विभिन्न वस्तुएं प्रदान करता हुआ उनके साथ जैसे सहज भाव से रहता हुआ जैसे क्रीड़ा करते हैं जैसे खेल करते हैं जैसे खेल के समय हम सहज होते हैं उस तरह से परमात्मा सहज रूप से हमारे साथ सदैव विद्यमान है और ऐसा करता हुआ वो हमारा प्रजापति है हम प्रजाओं का वो पति है स्वामी है हमारा पालन कर रहा है आके कहा त्रीणी ज्योतिषी और उस परमात्मा ने यहां तीन ज्योतियों को बनाया है तीन विशिष्ट ज्योतियों को बनाया है और वो तीन ज्योतियां कौन सी हैं महर्षि ने लिखा अग्नि वायु और सूर्य ये तीन विशेष ज्योतियां हैं और वेद भाष्य में उन्होंने इसी मंत्र के भाष्य में वायु के स्थान पर विद्युत शब्द का प्रयोग किया है तो अग्नि विद्युत और सूर्य ये तीन ज्योतियां और ये तीन ज्योतियां कैसी हैं उसके लिए महर्षि ने लिखा कि इनको जिनको परमात्मा ने रचा है जिसने रचा है तो इस संसार में सब जगत के व्यवहार और पदार्थ विद्या की उत्पत्ति के लिए इन तीनों को मुख्य समझना इस संसार में हमारा जो भी व्यवहार होता है जितनी पदार्थ विद्या है उसमें बहुत सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं बहुत सारे द्रव्यों का उपयोग करते हैं लेकिन इसमें मुख्य ये तीन चीजें हैं ये समझना एक सूत्र दिया जा रहा है अग्नि वायु और सूर्य अथवा साथ में विद्युत हम मिट्टी का भी उपयोग करते हैं लकड़ी का भी उपयोग करते हैं वस्त्रों का उपयोग करते हैं भोजन का उपयोग करते हैं इन सब पदार्थों के व्यवहार में अग्नि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वायु की महत्वपूर्ण भूमिका है विद्युत की है और सूर्य की है आज का जो विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है उसमें अग्नि का महत्वपूर्ण उपयोग है अग्नि को हटा दीजिए ईंधन को हटा दीजिए ये सारा विज्ञान सारी गति एकदम ठप हो जाएगी सब जगह अग्नि विद्यमान है अग्नि का प्रयोग होता है और अग्नि का जितना अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं उतना ही वो यंत्र अच्छा बन जाता है अधिक उपयोगी बन जाता है अग्नि का नियंत्रित प्रयोग इसी तरह विद्युत का बहुत उपयोग हो रहा है नियंत्रित अच्छा उपयोग आज हमें इतनी सुख सुविधाएं प्रदान कर रहा है प्रगति के अवसर प्रदान कर रहा है तो विद्युत भी एक ज्योति है इसी तरह वायु है वायु का भी बहुत सा उपयोग आज किया जाता है पहले जो इंजन चलते थे भाप से पानी की भाप से वो अग्नि का प्रयोग करते हुए वो एक तरह से वायु का ही प्रयोग था और भी जो आज ईंधन चलते हैं जलते हैं उसमें भी वायु का दबाव ये सब बहुत उपयोग होता है वायुयान में ये बहुत उपयोग होता है और तीसरा है सूर्य यद्यपि आज का विज्ञान सूर्य का उतना महत्वपूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है लेकिन अगले कुछ दशकों के अंदर हम देख पाएंगे कि सर्वाधिक उपयोग हम इस सूर्य का ही कर रहे होंगे जिस तरह से आज अग्नि इतनी महत्वपूर्ण है ये भौतिक अग्नि जो पृथ्वी पर है विद्युत अग्नि के विविध रूप अंततः ये सब सूर्य से ही आ रहे हैं मूलतः है इनका आधार सूर्य ही है और ये विद्युत आदि साधन अग्नि इस पृथ्वी के ऊपर एक सीमित मात्रा में है कोयला हो गया भूमिगत तेल हो गया इत्यादि चीजें लकड़ियां हो गई पेड़ पौधे हो गए एक सीमा तक हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन यदि उससे अधिक आवश्यकता हो और पर्यावरण प्रदूषित भी ना हो कम हो तो उसके लिए हमें सूर्य तक पहुंचना ही होगा और विज्ञान इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसका उपयोग होगा वो पर्यावरण को दूषित नहीं करेगा और अथाह है वो उसकी कोई सीमा नहीं है उसकी कोई कमी नहीं है तो वेद मंत्र कह रहा है कि संसार में व्यवहार के लिए और पदार्थ विद्या के लिए तीन चीजें तीन ज्योतियां महत्वपूर्ण हैं ये संकेत दिया विज्ञान का बाकी तो मेहनत और अनुसंधान मनुष्य को करना होता है इसी दृष्टि को महर्षि ने कहा कि सब जगत के व्यवहार और पदार्थ विद्या की उत्पत्ति के लिए इन तीन को मुख्य समझना जो विज्ञान इन तीन पर केंद्रित होगा इनका अनुसंधान करेगा इसका उपयोग लेगा वो उतना विकसित हो जाएगा तो ये परमात्मा ने प्रजापति ने जो कि हम प्रजाओं के साथ इसमें हमारे साथ रमण कर रहा है हमारे हित के लिए हमारे पालन के लिए ये तीन ज्योतियां यहां पर दी हैं और ये संसार उसने किस तरह का बनाया सचते सशोडशी उसने सोलह कलाओं वाला ये संसार बनाया है इसमें सोलह चीजें ऐसी दी हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं तीन इसमें मुख्य हैं लेकिन और भी चीजें दी हैं और कैसे कैसे उसने व्यवस्था की है हमारे लिए हम सोलह कलाओं की बात सुनते हैं चौदह कलाओं की बात सुनते हैं सोलह अवतार चौदह अवतार चतुर्दश कलावतार हम महापुरुषों को मानते हैं उनमें विभिन्न गुण होते हैं इसी तरह से सोलह गुण इसमें हैं तो परमात्मा को इन सब का उत्पन्न करने वाला कहा परमात्मा ने इन सोलह कलाओं को उत्पन्न किया है इसलिए वो ये इन सोलह कलाओं वाला है यहां जो सोलह कलाएं गिनाई हैं ये प्रश्नोपनिषद में भी आई हैं वो प्रश्नोपनिषद वाली ही सोलह कलाएं यहां पर गृहित की गई ली गई हैं तो परमात्मा ने सबसे पहले ईक्षण किया विचार किया जो संसार की उत्पत्ति का मूल आधार बना और वो परमात्मा का ईक्षण विचार सदैव इसके साथ में है विद्यमान है फिर उसने प्राण को उत्पन्न किया प्राण तत्व को जिससे कि ये जीवन चल सके ये मुख्य था ये संसार बना है तो जीवन के लिए बना है ये जितने जड़ पदार्थ बने हैं वो जीवन चलाने के लिए बने हैं तो जो कुछ भी रचना है उसमें प्राण तत्व जीवनीय तत्व रहे ये उसका मूल आधार था और फिर इसीलिए उसने फिर श्रद्धा सत्य को लिया जो ठीक ज्ञान था जीवन रहे यहां पर जीवन के लिए सब कुछ बनाना है और उसका आधार बनाया उसने सत्य ज्ञान को शुद्ध ज्ञान को और उसका उपयोग करते हुए फिर पांच महाभूतों के नाम लिखे जिनका हम उपयोग करते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तो पांच महाभूत और उससे पहले ईक्षण प्राण और श्रद्धा ये आठ चीजें हुई इन महाभूतों को बनाने के बाद में हमारे लिए देने के बाद में परमात्मा ने हमें इंद्रियों को भी दिया है तो ये इंद्रियां एक कला के रूप में लिया यद्यपि इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां होती हैं पर एक संकेत के रूप में इंद्रियों को गृहित किया गया ये बाह्यकरण है हमारे और फिर अंतकरण मन भी दिया है हमें इतना दे करके परमात्मा ने फिर अन्न दिया हमारे लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए जिससे कि हम इस संसार में रह के अपना जीवन चला सकें कार्य कर सकें तो अन्न से क्या होगा तो अन्न से पराक्रम वीर्य भी उत्पन्न होता है उत्पन्न होना चाहिए यदि अन्य से हमें ऊर्जा ना मिले जिसे हम खाएं उससे ऊर्जा ना मिले तो हमारा शरीर नहीं चल सकता है वो भोजन भोजन क्या जिससे हम ऊर्जा ना प्राप्त कर सकें पोषण ना प्राप्त कर सकें वो हमारे लिए व्यर्थ है उसको हमने खा भी लिया तो क्या होने वाला है इसलिए परमात्मा ने अन्न बनाया हमारे लिए भोज्य पदार्थ बनाए और उन भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पन्न होने की व्यवस्था भी की है हम भोजन अंदर कर लेते हैं अंदर ले लेते हैं उसके बाद में उस भोजन का पाचन होना उससे उचित उसका विघटन होना और उससे यथा समय ऊर्जा उत्पन्न होना ऊर्जा का संचय होना जब हम चाहते हैं तब ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं जब हम दौड़ना चाहते हैं दौड़ लेते हैं जब हम उछलना चाहते हैं उछल लेते हैं चलना चाहते हैं बोलना चाहते हैं कर लेते हैं कहा किस मांसपेशी में ऊर्जा की आवश्यकता है सारी व्यवस्था कर रखी है जहां अधिक आवश्यकता हो वहां ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज अधिक पहुंच जाता है उस ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये जो वीर्य है पराक्रम है कर्म करने की सामर्थ्य है ये भी एक कला है और बहुत महत्वपूर्ण कला है वो परमात्मा ने दी है हमें हमारे लिए व्यवस्था कर रहा है हम में से कोई भी व्यक्ति उस ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न करने को प्रक्रिया को नहीं कर सकता बस वो हो रही है हमारे शरीर में तो परमात्मा ने अन्न दिया और फिर वीर्य पराक्रम दिया और उसने फिर हमारे लिए क्या व्यवस्था की धर्म की व्यवस्था की तप की व्यवस्था की हमें इस ऊर्जा को प्राप्त करके करना क्या है उसके लिए उसने व्यवस्था की हमें तप करना है और तप का मतलब है धर्मानुष्ठान धर्म का अनुष्ठान यही बहुत बड़ा तप है धर्म के पालन में जो कष्ट होता है वो तप है वास्तव में वैसे ही जो कष्ट झेलते रहते हैं वो तप नहीं है वो वास्तविक तप नहीं है तो परमात्मा ने हमें तप भी दिया उसका ज्ञान भी दिया तो तप करना है हमें धर्मानुष्ठान करना है ये स्थिति दी है और हम धर्मानुष्ठान कर सकते हैं ये व्यवस्था दी है उसने और ये धर्मानुष्ठान हम कब कर पाएंगे तो अगली चीज दी हमें मंत्राह मंत्र वेद विद्या दी है धर्म का अनुष्ठान करना है तप करना है तो धर्म किसे कहते हैं धर्म है क्या उसको भी उसने बताया हमें वेद का चयन दिया उस धर्म के अनुरूप हमें चलना है और ये तप की व्यवस्था की है तो उसने हमें वेद विद्या भी दी है और उस वेद विद्या को पा करके धर्मानुष्ठान के लिए अब हमें कर्म करना है कर्म की व्यवस्था की है हम विविध कर्म कर सकते हैं हम विविध तरह से पुण्य कर्म कर सकते हैं हम विविध कर्मों को करते हुए अपनी प्रगति कर सकते हैं हमें कर्म करने के अनंत अवसर हैं विविध प्रकार के कर्म करने के अवसर हैं ये व्यवस्था भी ईश्वर ने बना करके दी है तो ये जो कर्म करने का लोक है स्थान है वो परमात्मा ने बना के दिया ये भी एक कला है और इस लोक के जितने नाम हैं विभिन्न वस्तुओं के नाम हैं जिससे कि हम व्यवहार कर सकें वो भाषा भी परमात्मा ने दी है और फिर वो भाषा बदलते बदलते विभिन्न रूपों में आज सामने है लेकिन मूलतः परमात्मा ने हमें सिखाया ये भाषा सिखाई वस्तुओं के नाम बताए और उसका प्रयोग हम कर पा रहे हैं सरलता से तो परमात्मा ने इन सोलह कलाओं को दिया इसलिए वो परमात्मा सोलह कलाओं वाला है इनको उसने बनाया व्यवस्था दी इसलिए वो सोलह कलाओं वाला है और इस परमात्मा के लिए जब ये परमात्मा का स्वरूप बताया तो कहा इतनी सोलह कलाओं के बीच में सब जगत है तो जब हम परमात्मा को भी सोलह कला वाला मानने लग जाएं, क्योंकि उन्हें उसने इन कलाओं को बनाया है तो क्या परमात्मा में सोलह ही कलाएं हैं तो ये सोलह कलाएं इस संसार में हैं हमारे लिए विद्यमान हैं लेकिन परमात्मा कैसा है तो महर्षि ने खोला परमेश्वर में अनंत कला है परमात्मा में तो अनंत कलाएं हैं उसको सोलह कलाओं तक सीमित नहीं कर सकते लेकिन ये सोलह कलाएं भी उसी ने बनाई हैं उसी का प्रताप है इसलिए उसको इन कलाओं वाला भी कहा जाता है आगे इसके सार के रूप में महर्षि लिखते हैं उसकी उपासना छोड़ करके परमात्मा का ध्यान परमात्मा की उपासना को छोड़ करके जो दूसरे की उपासना करता है परमात्मा को छोड़ करके अन्यों को मुख्य मान के उनकी उपासना करता है उनको पूज्य मानता है वह सुख को प्राप्त कभी नहीं होता किंतु सदा दुख में ही पड़ा रहता है इस जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना एक दुख है इससे छूटना मुक्ति है और वो तभी हो सकता है जब हम परमात्मा की उपासना करें परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अपने हृदय में सदैव रखते हुए परमात्मा की उपासना की जाती है और परमात्मा को अपना प्रजाओं का पति माना जाता है प्रजापति माना जाता है और वो हमारा पालन कर रहा है हमारे साथ रहते हुए हमारा पालन कर रहा है बड़ी स्वाभाविकता से सहजता से हमारा पालन कर रहा है हमारे लिए विभिन्न तीन ज्योतियों को दिया है हम उन तीन ज्योतियों का उपयोग करें और विविध कलाओं को परमात्मा ने हमारे लिए दिया ऐसे परमात्मा की हम सदैव स्तुति करते रहें और उसकी उपासना करते रहें ये इस मंत्र के अंदर धार्मिकों के लिए श्रेष्ठों के लिए आर्यों के लिए उपदेश दिया गया ओम शम किन्हीं को कुछ पूछना है तो संतोष है दृष्टि से मैंने बताया था वेद भाष्य में उन्होंने विद्युत शब्द का प्रयोग किया है तो उस दृष्टि से वहां वो संगत है ही लेकिन यहां वायु की मुख्यता समझते हुए उन्होंने उपयोग की वस्तु के रूप में विद्युत के स्थान पर वायु को महत्ता दे दी और विद्युत है वो एक तरह से अग्नि है यद्यपि भिन्न तरह की अग्नि है और महर्षि अग्नि और विद्युत को अलग अलग प्रयोग करते हैं पर फिर भी उसका यदि हम अंतर्भाव करना चाहें तो उसको अग्नि के अंतर्गत ले लेंगे और वायु भी एक महत्वपूर्ण तत्व उन्होंने यहां पर संकेत किया कि वायु का भी हमें उपयोग करना चाहिए आजकल वायु से भी बहुत सारे उपयोग लिए जा रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं वायु के उपयोग की आजकल वायु से बिजली बनने लग रही है पानी निकाला जा रहा है नीचे से पंखे लग जाते हैं उससे चलता है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वायु का प्रयोग होता है जैसे ये रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज जिसको बोलते हैं शीतलक यंत्र उसकी भी जो प्रक्रिया है वो वायु के ऊपर निर्भर करती है पीछे उसमें नलियां लगी हुई देखी होंगी आपने वो ठंडा कैसे करता है कैसे ठंडा होता है ये चीज कैसे ठंडी हो जाती है अग्नि से चलता है बिजली से चलता है वो ठंडा कैसे होता है तो वायु का एक सिद्धांत वहां पर काम करता है वायु को इस तरह से सकड़ा और चौड़ा किया जाता है सकड़ी नलियों में चला के फिर चौड़ा करते हैं तो वहां एकदम शीतलता आती है ये वायु का एक गुण है उसका उपयोग वहां पर किया जा रहा है जितने भी वाहन चल रहे हैं उसमें वायु का प्रयोग होता है वहां पर दबाव बनता है प्रेशर बनता है और उसके बिना ये सब कोई भी नहीं चल सकते बहुत जगह बहुत जगह वायु का उपयोग होता है कितनी चीजें हैं जो वैक्यूम बना करके प्रयोग की जाती हैं हवा को दबाव को बढ़ा करके कितनी फैक्ट्रियां हैं जहां पर धातुओं को गलाया जाता है वहां दबाव बढ़ाया जाता है दबाव कैसे बढ़ा देते हैं वायु के प्रेशर से कुछ चीजें कुछ रासायनिक क्रियाएं वैक्यूम में होती हैं यानी जहां वायु रहित स्थिति होती है दबाव रहित स्थिति बनाते हैं इस वायु का प्रयोग करके दबाव को बढ़ा के घटा करके कम करके विविध रासायनिक क्रियाएं की जाती हैं तापमान को बढ़ाया घटाया जाता है तो ये वायु अत्यधिक उपयोगी है विज्ञान के लिए और व्यवहार के लिए वैसे तो हम हमारा जीवन ही वायु से चल रहा है उस वो तो है ही उसके अतिरिक्त भी बहुत सारा उपयोग हम वायु का कर सकते हैं करते हैं ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है उपयोग कर सकते हैं हम इसका और बहुत परमात्मा ने बहुत बहुत वायु दी है हमारे लिए उसका विभिन्न तरह से उपयोग कर सकते हैं तो इसलिए वायु भी हमारे व्यवहार और पदार्थ विज्ञान के लिए यानी खासतौर से विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है यंत्र कला आदि है उसमें वायु अत्यधिक उपयोगी है तो इस दृष्टि से महत्व को मानते हुए उन्होंने हो सकता है विद्युत के स्थान पर वायु का प्रयोग किया हो हाँ श्रुति देवी सोलह चीजें गिनाई गई है इनको कहा कि उत्पन्न किया ये प्राण अन्न आदि चीजें तो ठीक है उत्पन्न किया श्रद्धा उत्पन्न करना वो कैसे उत्पन्न की जा सकती है क्या उत्पन्न करना मतलब उत्पन्न करने का मतलब एक प्रकट या अभिव्यक्त करना इसको जिस ढंग से मैंने बात रखी थी कि ईश्वर ने ईक्षण किया प्राण किया प्राण और फिर श्रद्धा ठीक है वैसे पर एक दूसरा अलग भी मंत्र है सत्य श्रद्धाम अदधात और असत्य अश्रद्धा प्रजापति उस परमात्मा ने सत्य में श्रद्धा पैदा की है और असत्य में अश्रद्धा पैदा की है हमें ऐसा बनाया है उसने हमारा तंत्र ऐसा है हमारी बुद्धि ऐसी है कि जो ठीक बात होगी दोनों अगर सामने है तो तटस्थ रूप से हम ठीक बात को स्वीकार करेंगे उसी तरफ हमारा झुकाव होगा आत्मा का स्वभाव भी सत्य को जानने का है ये ठीक है लेकिन उसने भी ऐसी व्यवस्था की है हमारे मन को इस ढंग से बनाया है हम सदैव प्रगति करते रहें श्रद्धा से युक्त हो और सत्य के प्रति श्रद्धा रखें एक व्यवस्था उसने अंदर हमारे मन में दी है हम उसका कितना उपयोग करते हैं या उसकी उपेक्षा कर देते हैं एक भिन्न बात है तो वो श्रद्धा श्रद्धा मतलब सत्य में सत्य को धारण करना और उस तरह की क्षमता वो परमात्मा तो है ही ऐसा वो ऐसी व्यवस्था भी हमें देता है तो श्रद्धा को उत्पन्न करने की तो कोई बात ही नहीं है ठीक है आप उसको उस उत्पन्न करना भी कहते हैं जैसे हम दो जने आपस में व्यवहार करते हो अन्य लोगों में हम श्रद्धा पैदा करते हो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा पैदा करते हो किसी ग्रंथ के प्रति श्रद्धा पैदा करते हो यानी हम उसको ऐसा ज्ञान देते हैं कि उसकी उसके प्रति भावना बनती है वो उसे स्वीकार कर पाता है तो इस रूप में तो उत्पत्ति स्वीकार की जा सकती है श्रद्धा की भी अभिव्यक्ति प्रकटीकरण प्रस्तुति ये सब चीजें मानी जा सकती हैं दिलीप जी हम्म। तो हाँ इन्होंने जो प्राण और वायु प्राण को अलग कहा और वायु को अलग कहा तो यहां हमें अलग ही मानना होगा ये जो वायु है ये भौतिक वायु माननी होगी पंचभूतात्मक वायु लेनी होगी और प्राण शब्द जो है ये प्राण बड़ा व्यापक है वैसे तो लेकिन इसमें जो जीवनीय तत्व है जो इनको जीवन प्रदान करता है इन सब के अंदर जिससे कि जीवन चलता है उस तत्व को प्राण तत्व कहा गया सामान्यतया हम हमारे को जीवन इस वायु से मिलता है इसलिए हम इस वायु को प्राण कहते हैं और जब ये पता लगा कि इस वायु के अंदर भी ऑक्सीजन होता है वो ही हमें जीवन प्रदान करता है बाकी जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है वो होते हुए भी हमारे इस जीवन चलाने के लिए अभी उपयोगी नहीं होती है वो बस अंदर जाती है बाहर निकल जाती है तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहने लगे एक गौण कथन होते हैं मुख्य कथन होते हैं ये हमें जीवन प्रदान करते हैं इसलिए इनको प्राण कहा गया और वैसे वायु के ही जो भेद किए जाते हैं वो प्राण के रूप में किए जाते हैं वो भी है उस तरह भी किया जाता है यहां हमें वायु से भिन्न प्राण को लेना ही होगा वायु भौतिक वायु लेंगे प्राण जो जीवनीय तत्व है जो विभिन्न रूपों में हमें जीवन प्रदान कर रहा है उसको प्राण कर कहना चाहिए और कोई तो मन में ये भावना रखते हुए कि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है सबसे बड़ा है उसी की हमें उपासना करनी है उसे ही मुख्य मानना है प्रणव ध्वनि ओ निरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरव शांति सामा शांति रे ॐ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः नमस्ते